बाद में मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि मेरी माँ हर तरफ घूम कर टहल कर इधर त्रिवेंद्रम क्यों आया था दरअसल वो कभी इस शहर को और इधर के बीच को भुला नहीं पाया था वो वर्कला बीच कभी नहीं भुला सकता था शुरू से वो मेरे असली फादर के साथ इधर ही रहता था इधर की एक एक चीज उसे पता थी सब उसके लिए मेमोरी की तरह था अशोकन हर एक सेंटेंस के बाद सिगरेट का कश ले जा रहा था ऐसे में उसने अब तक इस इंटेरोगेशन रूम को धुएं से भर दिया था यहाँ बैठे बाकी लोगों को इस धुएं से परेशानी भी हो रही थी लेकिन अशोकन से सब कुछ उगलवाने के लिए उसे सिगरेट पिलाना जरूरी था ऐसे में ये लोग ना चाहते हुए भी इस दुख को सह रहे थे त्रिवेंद्र में आने के बाद एक चीज मेरी माँ के लिए ये बेटर हुआ की जब उसका मन करता था तब उसे टाइम मिलता था वो इधर वर्कला बीच पर चला आती थी इधर वो लाइट हाउस के पास आकर बैठी रहता था लाइट हाउस को देखता रहता था और इधर हमारा जो पुराना टूटा हुआ घर था उसको देखता रहता था ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाता था कभी कभी वो मेरे को भी अपनी पुरानी स्टोरी बताता था मेरे फादर के बारे में और कैसे वो इधर रहा करता था इसके बारे में वो हमको बताता था फिर उसने अपने चेहरे पर बेहद इमोशनल सी मुस्कान लाते हुए कहा कई बार मुझे तो ऐसा लगता था कि ये लाइट हाउस मेरा मदर की लाइफ का पार्ट हो चुकी थी वो इस प्लेस को कभी भूल ही नहीं सकता था यहाँ तक कि मैं ये भी सोच लिया था कि मैं अपनी माँ के मरने के बाद उसको इधर ही लाकर दफन करेगा इसके बाद अशोकन ने सिगरेट का दूसरा कश खींचते हुए कहा लेकिन फिर एक दिन ये फिल्म वाले आ गए तो सारी कहानी ही बदल गई पहले तो हमें फिल्म के बारे में कुछ पता ही नहीं था एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था तो उधर से मुझे सुनने को मिला कि इधर कुछ फिल्म वाले आया है और वो लोग लाइट हाउस के पास शूटिंग कर रहा है फिर मुझे वहीं से ये भी पता लगा कि फिल्म वाला लाइट हाउस मर्डर केस की स्टोरी पर फिल्म बना रहा है इस टाइम में बहुत एंग्री हुआ मुझे बहुत गुस्सा आया इसके बाद अशोक ने कुछ पल ठहर कर बोलना शुरू किया अभी तक मेरी माँ के पुराने जख्म भरे भी नहीं थे और ये फिल्म वाले उसकी कहानी पर फिल्म बनाकर पूरी दुनिया को तमाशा दिखाना चाहता था भला मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता था मेरी माँ शुरू से खुद को दुनिया की नजरों से बचा कर रखता था लेकिन ये फिल्म वाले पहले स्टार्टिंग में तो मैं सोच रहा था कि किसी लोकल गैंगस्टर की मदद से फिल्म क्रू वालों को डरा धमका कर वापस करवा दू लेकिन फिर मेरे माइंड में आइडिया आया कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर उन लोगों को मेरी माँ के बारे में भी पता चल सकता है इस वजह से मैंने ये प्लान कैंसिल कर दी अशोक ने फिर से सिगरेट की एक कश खींचते हुए कहा फिर मैं कुछ दिनों तक फिल्म वालों को फॉलो करता रहा मैं उधर जाकर ऐसे मौके ढूंढ रहा था ताकि मैं फिल्म वालों को शूटिंग से रोक दूं मैं चुपके से लाइट हाउस के पास जाकर उन लोगों को वॉच करती रहती थी उन लोगों को कभी पता नहीं चलने दिया कि मैं उनको वॉच करता है मुझे जितना फिल्म के बारे में पता चलता जा रहा था उतना ज्यादा मुझे गुस्सा आ रही थी अशोकन ने गुस्से में आकर अपनी भौएं टेढ़ी करते हुए कहा वो लोग बिल्कुल नॉनसेंस स्टोरी पर फिल्म बना रहा था उनकी स्टोरी में मेरी मदर को ही मर्डर दिखाया जा रहा था मेरे को मालूम था कि अगर मेरी मदर को इसके बारे में पता चल जाता तब तो वो सुसाइड ही कर लेता वो जिंदा नहीं रह पाता बाद में मुझे पता चला कि इस पूरी फिल्म की स्टोरी वो स्क्रिप्ट राइटर नौशाद अली बना रहा था अशोकन के लफ्जों से ही उसके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था उसने लगभग अपना दांत पीसते हुए कहा सारा आइडिया उसी का था वो साला वजाहत का भतीजा था और वो जानबूझकर मेरी माँ का नाम खराब करने के लिए ऐसा कर रही थी अब मैं उसे भला कैसे छोड़ सकती थी अशोकन ने बेहद एक्साइटेड होते हुए फिर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा लेकिन मैं क्राइम डिपार्टमेंट में काम करता था मैं आर्मी मैं भी काम किया था इसलिए मैं ऐसे किसी का मर्डर नहीं कर सकती थी मेरा शुरुआत का प्लान ऐसा किसी को मारने का नहीं था पहले मैं सिर्फ फिल्म का क्लिप खराब कर देना चाहती थी और इसके लिए मैं शूटिंग के खत्म होने का वेट कर रही थी जिस दिन शूटिंग खत्म हुआ उस दिन मैं उन लोगों का वीडियो क्लिप खराब करने वाला था अशोक ने फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत सर वो ड्रग के बारे में बिल्कुल सही कह रही थी लास्ट ईयर मैं एक मर्डर केस सॉल्व किया था उसमें जो लेडी थी उसने एक बिजनेसमैन को ड्रग देकर मारा था उस लेडी का घर से काफी सारा ड्रग कलेक्ट किया गया था नारकोटिक वालों का साथ मैं खुद उसका घर एविडेंस के तौर पर ड्रग कलेक्ट करने गया था बाद में गलती से उसमें से थोड़ा बहुत ड्रग मेरी गाड़ी में छूट गया था मैंने उसको अपना घर में सेफ रख लिया था उस टाइम मेरा दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था मैं सोचा था कि बाद में कि कभी टाइम मिलने पर मैं ये ड्रग नारकोटिक वालों को वापस कर देगा फिर मैं काफी बिजी हो गया और वो ड्रग घर पर ही रखी रही अशोकन की हाथ में मौजूद सिगरेट भी लगभग खत्म हो गई थी लेकिन फिर भी वो आखिरी दम तक सिगरेट को खींचे जा रहा था अब तक उसने पूरे कमरे को सिगरेट के धुएं से भर दिया था जिससे यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था फिर जिस दिन फिल्म का शूटिंग खत्म हुआ उसी रात को मैं ड्रग लेकर उधर लाइट हाउस के पास पहुँच गया था मैंने मौका देकर सबका ड्रिंक में वो ड्रग मिला दिया ताकि वो लोग बेहोश हो जाए और मैं अपना काम करके वापस आ जाए लेकिन वहाँ थोड़ा गड़बड़ होगी दयाकर अभी अशोकन से ये सब बातें कर ही रहे थे कि विक्रांत मन ही मन बड़बड़ाने लगा अशोकन ने फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा ये सब दयाकर की ही वजह से हुआ है उसी की वजह से मैंने इतने लोगों का मर्डर की हम्म, विक्रांत ने अशोकन की तरफ देखते हुए अपना सिर हिला दिया उसका अनुमान सही था दयाकर ही इस केस का सबसे मेन पॉइंट था उस रात में काफी देर तक सबके बेहोश होने का वेट करता रहा और जब मैं बिल्कुल श्योर हो गया कि ड्रग काम कर गया है तब मैंने कैमरामैन के टेंट में जाकर सारा क्लिप डिलीट कर दिया मेरे पास उसके लैपटॉप का पासवर्ड भी था और उसके क्लाउड अकाउंट का भी पासवर्ड था मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया होता अशोकन ने फिर कहा उस रात में कैमरामैन अनिकेत के टेंट में जब पहुंचा तो वो आराम से सो रहा था मैं उसका टेंट में घुसा हुआ था तभी उधर मेरे को एक नॉइस सुनाई पड़ी फिर पता चली कि एक आदमी उधर टेंट के पास छुपा हुआ था वो मुझे ये सब करते हुए देख रही थी लेकिन जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो फिर वो उधर से भागने लग गई अब अगर उसने मेरे को देख ली थी और वो वहां से भाग रहा था तो बाद में मेरे लिए मुश्किल बढ़ जाती इसीलिए ही मैं उसको रोकने के लिए तेजी से उसके पीछे भागी इंस्पेक्टर अशोकन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा जब मैंने उसको बाहर जाकर पकड़ ली तो फिर पता चला कि वो एक्टर दयाकर था उसी ने मुझे उन लोगों के खाने में ड्रग मिलाते देख ली थी वो उधर से बैग लेकर भाग रहा था वो शायद वहाँ से कहीं जा रहा था उसके बाद उसने कहा लेकिन वो जब उधर से भाग रही थी तभी उसके पैर के नीचे कोई पत्थर वगैरह आ गई थी वो नीचे गिर गया मैं उसको उठाने के लिए उधर गई तो वो मेरे ऊपर पत्थर उठाकर मारने लगी फिर फिर मुझे उसका खून करना पड़ा जब मैं दयाकर को मार रही थी तो उस वक्त मेरा माइंड बिल्कुल ब्लाइंड हो चुकी थी अशोकन अब अपने क्रिमिनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा था मैं उसे जान से नहीं मारने चाहती थी मैं तो बस उसे घायल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बिल्कुल मेरी जान के पीछे पड़ गई थी इस वजह से मुझे उसको मारनी पड़ी इंस्पेक्टर अशोकन ने फिर अनुष्का की तरफ देखते हुए इशारों में ही एक और सिगरेट की मांग कर दी इसके बाद उसने आगे बोलते हुए कहा जब मुझे ये कंफर्म हो गई कि दयाकर की डेथ हो चुकी है तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या करूं मैं बहुत ज्यादा डर गई थी हम दोनों का बीच बहुत देर तक फाइट चलता रहा इस वजह से उसका नेल मेरे ब्लड वगैरह और उसका बॉडी में भी मेरा नेल वगैरह लगा हुआ था ऐसे में मुझे लगा कि कहीं अगर डीएनए का टेस्ट हो गया तो फिर पुलिस लोग मुझे पकड़ लेगा फिर जिस वजह से मैंने उसकी डेड बॉडी को गायब करने का सोचा क्योंकि मैं जानता था कि जब तक पुलिस को उसकी डेड बॉडी नहीं मिलेगी तब तक वो लोग मेरा कुछ नहीं कर सकता इसी वजह से मैं दया करके डेड बॉडी को क्लीन करने लग गया लेकिन तभी मुझे उसका फोन मिल गया